परम दयालु है भक्त का पक्षपाती है उसके ज्ञान को भक्त लोग ज्ञान कहते हैं तो वो ज्ञान भक्ति का मददगार होता है और ये निर्गुणिया लोग जो हैं वे लोग अशब्द अस्पर्श अरूप अरस अगंध अरहस्व अदीर्घ अनणु ऐसे परमात्मा के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं निर्गुणिया लोग वो निर्गुण है निर्विशेष है निर्धर्मक है तो वो ज्ञान तो भक्ति में उपयोगी नहीं होता है तो भक्त लोग ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं सगुण परमेश्वर के ज्ञान के अर्थ में और अद्वैत वेदांति ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता होती है निर्विशेष वस्तु के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं दोनों के शब्दार्थ में भेद है तो देखो भाई यदि आपको मुक्ति चाहिए तत्व निर्विशेष ज्ञान के बिना ऋते ज्ञानान नमस्ते निर्विशेष ज्ञान के बिना निर्धर्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती उसमें ज्ञान परम स्वतंत्र है मुक्ति देने में और जहां सगुण का ज्ञान प्राप्त करना है सगुण का दर्शन सगुण का साक्षात्कार तो सगुण के साक्षात्कार में भक्ति स्वतंत्र है उसमें निर्गुण ज्ञान निर्गुण ज्ञान भक्ति में उपयोगी नहीं है सगुण ज्ञान से भक्ति होती है और निर्गुण ज्ञान परम स्वतंत्र है वो बिना कर्म के बिना उपासना के बिना योग के और मुक्ति देने में समर्थ है तो तब दोनों का विषय अलग हो गया अब देखो तो अलग अलग जिसका हृदय कोमल है जो भगवान का नाम सुन के उनका रूप सुन के उनका गुणानुवाद सुन के उनका सौंदर्य माधुर्य सुन के जिसका हृदय पिघल जाता है और भगवान ही भगवान के हृदय में दिखने लगते हैं रोमांच हो रहा है शरीर में आंखों में आंसू आ रहे हैं कंठ गदगद हो रहा है हृदय द्रवित हो रहा है और भक्ति में मस्त हो रहा है तो जिस कोमल हृदय का जो पुरुष है स्त्री है उसको भक्ति के मार्ग से चलना चाहिए और जिसका हृदय नाम सुन के रूप सुन के गुण सुन के सौंदर्य माधुर्य सुन के भी द्रवित नहीं होता आंख में आंसू नहीं आते शरीर में रोमांच नहीं होता कंठ गदगद गदगद नहीं होता वो अद्भुत चित्त अधिकारी है उसके लिए ज्ञान का उसके लिए ज्ञान का मार्ग होता है और महाराज दोनों हो तो दोनों तरह का हो तो सतत भक्ति करते चलो और ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करो तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने सगुण ईश्वर की प्राप्ति में भक्ति स्वतंत्र है और निर्गुण निर्विशेष निर्धर्मक परमात्मा की प्राप्ति में तत्व ज्ञान स्वतंत्र है और ज्ञान की प्राप्ति में भक्ति अंतकरण को शुद्ध करती है और भक्ति की प्राप्ति में ज्ञान भगनीय के स्वरूप को प्रकट करता है इसलिए दोनों अपने अपने विषय में स्वतंत्र हैं लो एक और आपके पास सुना समदमादि संपन्न और विचार में निपुण जो होता है वो तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है और जो श्रद्धालु होता है वो भक्ति का अधिकारी होता है भक्ति में बार बार बार का वृत्ति दोहराई जाती है और तत्व ज्ञान में एक श्लोक में प्रमाण में प्रमेय का प्रमा जहां हुई प्रमेय की प्रमा जहां ठीक ठीक प्रमा हुई वहां ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है एक चोट में अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान का फल है मुक्ति और भक्ति का फल है अपने इष्टदेव की प्राप्ति भक्ति का फल है अपने इष्टदेव की प्राप्ति और बारंबार प्रेम से भगवदाकार वृत्ति को दोहराना है उसका स्वरूप और श्रद्धा है उसका मूल और तत्व ज्ञान जो है उसमें समदवादि साधन संपन्न व्यक्ति की प्रभावमूलक प्रवृत्ति है और यथार्थ वस्तु की प्रमा है और प्रमा हो जाने के पश्चात अज्ञान की निवृत्ति मोक्ष है परंतु ये दोनों दोनों में मददगार है यदि भगवान के मार्ग में चलना है तो बिना भक्ति के भगवान के मार्ग में नहीं चल सकोगे और यदि भगवान को जानोगे नहीं तो भक्ति किसकी करोगे इसलिए देखो भगवान कहते हैं भक्ति करोगे तो बुद्धि लोग मिलेगा लो गीता में मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम् सततयुक्तानाम् भजताम् प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगम् ताम् ज्ञानदीपेन वास्वत अपना प्यार और अपना विचार मुझे दे दो मेरे लिए जियो मर्ग तक एक दूसरे को समझाओ और समझो और एक दूसरे को मेरी चर्चा सुनाओ और सुनो और उसमें संतोष मानो उसमें रम जाओ भगवान कहते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ और ज्ञान का दीप लेकर के भास्वान परम प्रकाशमान ज्ञान दीप लेकर के उनके अंधकार को दूर कर देता हूँ उनके हृदय में बैठकर तो मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च यहाँ तक रखती है और पेशा देवानुकंपार्थम उन पर होती है भगवान की कृपा और ज्ञान दीप दिखा करके अज्ञान को दूर कर देते हैं भगवान बुद्धि दूर देते हैं करोगे भक्ति मिलेगा ज्ञान ये ये हो गया आप दूसरी ओर देखो मच्चित्त होने से बुद्धि योग मिलता है कि बुद्धि योग मिलने से मच्चित्तता होती है तो मच्चित्ता मदगत प्राण ददाओ बुद्धि योगम पर मन लगाओ मुझने मैं देता हूं बुद्धि योग और दूसरी जगह बोलते हैं गीता में ही बुद्धि योगम उपाकृत्या मच्चित सतसंभव पहले समझदारी का आश्रय लो समझदार बनो बुद्धि योग करो तब तुम्हारा मन मुझमें लग जाएगा मुझ में मन लगाओगे तो मुझको समझोगे और मुझको समझोगे तो मुझ में मेरा मन लगेगा और गीता का उपसंहार है मन मना भो मत भक्तो इसके ऊपर है ना ईश्वर से अर्जुन तिष्ठति रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्तरां शांतिम् स्थानम प्राप्त शाश्वतम इति ते ज्ञानमाख्यातम गुर्जात गुर्जतम मया इसका नाम है ज्ञान इसका नाम है ज्ञान ज्ञान ज्ञान यहाँ अब उसके बाद है मन मना भव मद वक्तो मद जागी माम नमस्तु माम एकम शरणम ब्रज अहम क्या सर्व पापे भी हो अच्छा गीता में अर्जुन भक्त है कि ज्ञानी है ये बात रहने दो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कच्ची अज्ञान सम्मोह से धनंजय अर्जुन क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ नष्ट हुआ स्मृत रहता नष्ट हो गया वो स्मृति मिल गई आप करोगे क्या करिश्ते वचनम करो भक्ति आ गई करिश्ते वचनम करो ये भक्ति आ गई अब तो अब आठ नौ दिन तक इस विषय पर चर्चा करना है इसलिए आज ही हाँ, सब हाँ, जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है कल से सुना नगरी

समयदम यज्ञा कर्मशास्त्रम सहज श्रुति कथा ब्रह्म विद्या नवद्या ज्ञानम सर्वात्मवान चिरचरित कृत्यमुखी शान्तिरूपा आश्चर्यम् चाचर्या जननयनमो मोहन् मुक्तवर्या सम्पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्म कविपीतवसनं घनोपमम् सतपत्रपत्रसदृशायतेष्टम् ऋतवेणुवेणुपरिमण्डितम् भवाम् हृदिनोऽस्तु कौस्तुभविभूषणम् ॐ एक है उपनिषदों में ज्ञान और भक्ति भी है और एक है गीता में ज्ञान और भक्ति उपनिषदों में अधिकारी की एक ऐसी शर्त लगाई है विवेकी हो परीक्ष्य लोकान कर्म पितान ब्राह्मणों आया वैराग्यवान हो गए शांतो गांता परतस्य चित्तु श्रद्धावित्तो भूतवा शांत हो दांत हो उपरत हो प्रतीक्षु हो कमाई हो श्रद्धा की पूंजी देकर आत्मदर्शन करने के लिए रहे गीता है जैसे अरण्य भूमि से रणभूमि में ज्ञान को पहुंचा दिया और जैसे ऋषि महर्षि दृष्ट वक्ताओं से उठाकर एक सारथी में सूत पुत्र है संजय संजय सूत पुत्र है श्री कृष्ण सारथी सारथी को ज्ञान का उपदेशक बना दिया और सांस दान को परस की जगह एक अधिकारी चुना धृतराज अंधे और एक अधिकारी चुना को मोह से इसका अर्थ है कि गीता पिछड़े हुए लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है जिनके पास कोई संबल नहीं है कोई साधन नहीं है उनके लिए ये गीता माता अवतीर्ण हुई है गीता भगवान का हृदय गीता में हृदय का जैसे एक मित्र अपने मित्र को अपना हृदय दान करता है वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना हृदय दान करते हैं गीता के आगे भगवान का हृदय और इसमें भरी है करना इसमें ज्ञानी होने के लिए कुछ खास अधिकार की आवश्यकता नहीं है जैसा भक्ति का अधिकारी है वैसे ज्ञान का अधिकारी है अभी भी पाप पापे धिया सर्वे धिय पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवे नैव त्रिदिनम् संकर्ष्यति दुनिया में बड़े से बड़ा जो पापी है उसको छापो तीन पापी अलग कर उसमें एक से बड़ा दूसरा दूसरे से बड़ा तीसरा जिस पापी से बड़ा और कोई नहीं पापी हो उसको बुलाओ अतिचेदसी है पाप कृत तम सारे दिया पापे दिया दुनिया में जितने पापी हैं सबको इकट्ठा करें और उसमें पापकृत पापकृत्तर पापकृतता उन तीनों में भी जो सबसे बड़ा पापी है उसको छाप और आओ उसके लिए आमंत्रण आओ हमारे ज्ञान की नाव पर बैठ जाओ सर्वम ज्ञान प्रदेश नहीं हो रिजिनम संतर स्थिति आओ हमारे ज्ञान की नाव पर बैठ जाओ सर्वम विधिनम सम्यक परिस्थिति केवलम ज्ञान फलवे नहीं योगादि अपेक्षा बिना योगाभ्यास के बिना किसी दूसरी कामना के आओ तुम्हें आमंत्रण है ज्ञान प्रवे नहीं ये उतार जो है साधन की जागृति के लिए तो ये जो ख्याल है कि ज्ञान के लिए बड़ा भारी ताकत चाहिए तो श्री कृष्ण बोले कि नहीं आओ आओ तुम हमारी नाव पर बैठो तुम्हारे लिए भी इजाजत है तुम्हारी जाति हीन है तो क्या आचरणहीन है आचरणहीन है तो क्या तुम्हारा ज्ञान है हीन है तो क्या आओ श्री कृष्ण के समय की करुणा बोल रही है आओ हमारी नाव पर बैठ जाओ सबके लिए आमंत्रण है जीवन डरो मत अपने पाप से डरो मत पाप से डरो मत जाति से डरो मत अपनी भ्रष्टता से डरो मत आओ हमारे पास आ जाओ तुम्हारे सब पाप पाप नीचे बढ़ते रह जाएंगे और तुम इस नौका से पार हो जाओगे भाई भक्ति को तो, तो सबके लिए है अपि चेत् सुपुराचारो भजते मामनन्यभात् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा तत्स्वच्छान्तिम् निगच्छति कौंते प्रतिजानीहि नवे भक्त पश्यति दुराचारी से दुराचारी जी यदि भगवान का भजन प्रारंभ कर दे कभी कभी पांव फिसल जाते हैं ऐसा कौन है जो रास्ते में चलता रहे और उसके पांव कभी कीचड़ में न फंसे कभी फिसल में जाए ब्रह्मा के पांव भी फिसल जाते हैं शास्त्र में ऐसा वर्णन इंद्र के पांव भी फिसल जाते हैं शास्त्र में ऐसा वर्णन पांव फिसल जाना अपराध नहीं है गिर जाना भी अपराध नहीं परंतु पांव फिसलने के बाद गिरने के बाद है तो फिर आगे की ओर चले पीछे न लो यदि आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो ये सब साफ साफ नष्ट होते जा रहे हैं स्वकर्म प्रध्वस्तम प्रतिक्षण कर्म का नाश होता जा रहा है तो भगवान की आराधना उनकी कड़ी होती है अपि ते सुगुराचार भजते था साधुरेव मंतव्य गोपियों का वर्णन किया है ऐसा सुन करो जो गोपियों के भक्त हैं वो व्याकुल हो जाते हैं भागवत में ऐसा वर्णन प्रेमा प्रियो बनचरी यह विचार दुष्टा कृष्णे क्वचयुक्त निरूढ़ आचारहीन ज्ञानहीन जातिहीन श्रीधर स्वामी ने तीन व्याख्या की ये शब्द तो भागवत के मूल में अलग है द्वे मात्रो बन शरीर व्यभिकार दुष्टा जातिहीन है ज्ञानहीन है आकारहीन है परंतु इनके हृदय में भगवान का प्रेम है नंदीश्वरो भजतो विदुषो पिता श्रेयसनोच्चगदरादेवोपयुक्ता अनजान में कोई अमृत पी दे अमर हो जाएगा अनजान में भगवान की भक्ति आ जाए अमर हो जाएगा भगवान की भक्ति जो पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाती है जो गिर गया है उसको आ देती है जो मूर्ख है उसको विश्वास बना देती है जो आचारहीन है उसको पवित्रता कर देती है क्षिप्रम बहुत ही धर्मात्मा चुटकी बजाते नजर बजाते धर्मात्मा हो जाएगा तो गीता की भक्ति में और गीता के ज्ञान में देखो ये दोनों पतित पावन है और विचार की बात करते हैं आप कभी ध्यान देते हैं कि आप क्या चाहते हैं अद्भुत बात है आपके जीवन में चाहते हैं आप कुछ और प्रयास करते हैं किसी दूसरे के लिए क्या चाहते हैं मतभेद हो तो बता रहे हैं सुस्ती है आप सुख चाहते हैं कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होता है जो सुख को न चाहता हो सुखम में भूया दुखम में महाभूत सब प्राणियों की ये स्वाभाविक लालसा है कि हमको सुख हो गए दुख न हो तो सुख आपको कितने समय तक मिले आप क्या चाहते हैं एक तो सब प्राणी चाहते हैं इसलिए कोई तो एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको सब चाहते हैं आप उसको जानते हैं अच्छा वो किस समय मिलना चाहिए आपको तो सब समय मिलना चाहिए तो आप ऐसे सुख को चाहते हैं जो सब समय मिले अच्छा कहाँ कहाँ चाहते हैं घर में बाहर जो सब जगह चाहते हैं तो आप ऐसा सुख चाहते हैं जो सब जगह हो अच्छा आप किससे किससे चाहते हैं कहा हम सबसे चाहते हैं तो ऐसा सुख तो आप चाहते हैं जो सब में हो अल्प से अल्प बिना परिश्रम के मिले तो चाहते हैं कैसा तो पराधीन चाहते हैं कि स्वाधीन स्वाधीन सुख चाहते हैं मालूम पड़ता हुआ सुख चाहते हैं कि जो मालूम ना पड़े सो तो आप क्या चाहते हैं सब समय जो रहने वाला सुख है वो चाहते हैं सब जगह रहने वाला सुख चाहते हैं सबसे मिलने वाला सुख चाहते हैं स्वाधीन सुख चाहते हैं सिद्ध बिना श्रम का सिद्ध सुख चाहते हैं ज्ञान स्वरूप सुख चाहते हैं आप इन पांच बातों को ध्यान में लीजिए आपकी चाह में ये पांचों बातें हैं कि नहीं और यदि हैं बाबू तो ऐसे सुख का नाम केवल ईश्वर हो सकता है जो सब समय हो सब जगह हो सब में हो बिना बनाए बिना परिश्रम के बना हुआ हो जिसकी प्राप्ति में पराधीनता न हो जो ज्ञान स्वरूप हो ऐसा सुख परमेश्वर आप उस परमेश्वर को चाहते हैं परंतु उसको ढूंढने कहा जाते हैं अनित्य मतुखम लोकम अनित्य में नित्य को ढूंढने जाते हैं जड़ में चेतन को ढूंढने जाते हैं दुख में सुख को ढूंढने जाते हैं जहां जो चीज है वहां उसको नहीं ढूंढते दूसरी दूसरी जगह भटकते चलते हैं तो आप उसका ज्ञान प्राप्त करो कि वो कैसा है क्या है और यदि आपको दिखता नहीं है वो तो बड़ी श्रद्धा से बड़ी रुचि के साथ उसको ढूंढिए जो चीज दिखती नहीं है उसको ढूंढना हो तो श्रद्धा चाहिए और रुचि भी चाहिए और लगन भी चाहिए तीनों को एक में मिला दो उसका क्या नाम होगा भक्ति श्रद्धा हो रस हो लगन हो किसी भी अपनी प्रिय परोक्ष वस्तु को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा करनी पड़ेगी रुचि से ढूंढना पड़ेगा लगन के साथ श्रद्धावान लगते ज्ञानम तत्परा संजतेन्द्र अब आओ निर्गुण सगुण की बात करो ये आपके ध्यान में रहे कि आप ईश्वर को चाहते हैं दिनों देखे रघुवीर पद जियती जरन जरन जब तक आप भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे आपके हृदय में जो आग लग रही है वो बुझेगी नहीं शंकराचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि आप ज्ञान की बड़ी महिमा बताते हैं इससे हमारे जीवन में भी कुछ मिलेगा कि केवल बात ही बात रह जाएगी मांडू को तुम सबके भाव में शंकराचार्य ने कहा कि राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति में रह जाएगी दुनिया में किसी का राग नहीं द्वेष नहीं किसी के प्रति पक्षपात नहीं क्रूरता नहीं किसी के लिए बेईमानी नहीं किसी की हिंसा नहीं राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी आप आओ ज्ञान के मार्ग में आओ तो एक जगह भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति करो मेरी और मिलेगा ब्रह्म गीता में और एक जगह कहते हैं कि ब्रह्म का करो चिंतन और मिलूंगा मैं आप इस सहेली को गीता पर आपके तो सिर्फ गीता पढ़ने वाले लोग हैं माम जो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते स्वगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते व्यभिचारी भक्ति योग से जो मेरी भक्ति करता है वो गुणातीत होकर ब्रह्म हो जाता है भक्ति करेगा भगवान की और हो जाएगा ब्रह्म भक्ति करेगा ब्रह्म की उपासना करेगा ब्रह्म की चिंतन करेगा ब्रह्म का और मिल जाएंगे कृष्ण जी जीत्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिंत्य कूटस्थमतलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत देवता अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वत्र सर्वत्र अचल ध्रुव की उपासना करते हैं समबुद्धि है सर्वभूत हितेरता है और उनको मिलेगा क्या तमाम ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्या अद्भुत है जिसका ज्ञान होता है उसी की भक्ति होती है ददामी बुद्धि तम जैन माम प्रियांशित तेषाम एवानुकंपार्थम पहले मन को लगाओ भगवान में मत चिंता मत लेता प्राणा हो जाओ अच्छा, देंगे क्या भगवान देंगे क्या तो बुद्धि दो और बुद्धि योगम उपास्य चित्त सतम भाव लो बुद्धि योग और मन लगाओ मन में कहने का अभिप्राय क्या है कि जहां लक्ष्य पर दृष्टि है वहां महाराज ज्ञान के रास्ते से चलो चाहे भक्ति के रास्ते से जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप बीच में नहीं बैठ सकते यदि आपका लक्ष्य का पक्का लक्ष्य के पक्के हैं आप तो जब तक तीर लक्ष्य में लगेगा नहीं से नवेद भव्य प्रमाद नहीं करना बीच में फंसना नहीं दोनों की बात आपको सुनाते हैं तो ये जो ज्ञान और भक्ति शब्दों का प्रयोग होता है इसके भी अर्थ जुदा जुदा होते हैं देखो गीता के एक श्लोक में भगवान को ज्ञान स्वरूप भी बताया है और ज्ञान गम्य भी बताया है श्लोक की एक ही आजादी है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम प्रति सर्वस्य विष्ठितम ये ब्रह्म का वर्णन है ज्ञानम ज्ञानगम्यम वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से ही जाना जाता है माने उसके मिलने का साधन भी ज्ञान है और वो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है तो ज्ञान दो हो गए एक साधन ज्ञान हो गया और एक परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो गया तो इसको समझना पड़ता है कि कहाँ साधन ज्ञान का वर्णन है और कहा परमात्मक स्वरूप ज्ञान का रखना है इतिते ज्ञान आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया एक ज्ञानमिति प्राहु अज्ञानम जगतो अन्यथा जीवन में अभिमान नहीं करना दम्भ नहीं करना हिंसा नहीं करना कुटिलता नहीं करना इसका नाम ज्ञान है ये तक तो ज्ञान व्यतित्व और अभिमान करना दम्भ करना हिंसा करना कुटिल होना इसका नाम अज्ञान है तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन ज्ञान क्या है निर्माण मोहा जित संघ दोषा ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन ज्ञान है कि अभिमान छोड़ो दम्भ छोड़ो हिंसा छोड़ो कुटिलता छोड़ो इसका नाम है साधन ज्ञान और ज्ञानम ज्ञेयम गम्यम हृदय सर्वस्विष्ठितम सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है ब्रह्म वो ब्रह्म का स्वरूप है तो जहां साधन ज्ञान है साधन ज्ञान में भक्ति का भी बढ़ाना है यही जो भी हमारे स्वम अदम्भित स्वम आदि है ना ये बीस है बीस साधन है ज्ञान है उसमें मई चानन्य योगे नौ भक्तिरभ्यभिचारिणी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम जग तो था भक्ति क्या है का ज्ञान का साधन है माने साधन ज्ञान है एक तो। अब एक ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सूचती न कांक्षति समस्तु भूतेषु भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूता पराम भक्ति लभते ब्रह्म होकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है वहां ज्ञान ब्रह्मभूता पहले हुआ सारे साधन हैं बुद्धिया या युक्तो वृत्तियात्मान नियमित शब्दाधीन विषया त्यक्वा रागद्वेश अंत में बताया देश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम और तत्व ज्ञान से भगवान की पराभक्ति मिलती है तो महात्मा लोग दोनों को एक करते हैं ज्ञान से जा पर आकाष्ठा सैव भक्ति प्रकीर्तिता ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसका नाम है भक्ति और भक्ते पूजा पराकाष्ठा तद ज्ञानम प्रकीर्तितम भक्ति की जो पराकाष्ठा है भक्ते पूजा पराकाष्ठा वो ज्ञानम प्रकीर्तितम भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसका नाम ज्ञान है जहां हम लक्ष्य से मिलके एक हो गए तो ज्ञान और भक्ति का द्वैत यदि रह गया तो अद्वैत की स्थिति ही नहीं हुई यदि ज्ञान और चीज है और भक्ति और चीज है तो परमात्मा की प्राप्ति क्या हुई तो वहां तो समग्र सृष्टि भी परमात्मा से पृथक नहीं होती है जब समग्र सृष्टि भी परमात्मा से अलग नहीं है तो ज्ञान से भक्ति कैसे अलग हो जाएगी ये तो भगवान की अत्यंत प्यारी अत्यंत प्यारी है भगवान की इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा ज्ञान में और भक्ति में भेद नहीं है और जो भेद बताया वो भावुकता का वो तो काव्य है जो भेद बताया वो तो काव्य है माया नर्तकी है और भक्ति को भगवान की बहुत प्यारी है एक प्यारी है एक नर्तकी है ये काव्य दृष्टि से अंतर का वर्णन हुआ तत्व दृष्टि से तो कही दिया कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कचु भेदा वो तो अभेद दृष्टि हो गई अब आओ कविता है आपको काव्य सुना माया खलु नर्तकी विचारी वो दर्शन शास्त्र नहीं है वो काव्य शास्त्र है काव्य शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में बड़ा अंतर होता है अब देखो आपको दूसरी बात सुना भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है उसको फिर छोड़ती नहीं है ये भक्ति का स्वभाव है तो आर्थ की भक्ति जिज्ञासु की भक्ति और सारथी की भक्ति और ज्ञान की भक्ति चतुर्विधा भजनते माम जना सुप्रतिरोधुना आसो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञान चो भरतरस्व गजेंद्र आप होकर पुकारता है प्रभु गौरव गौरव हमारी रक्षा करते अरे गजेन्द्र को तो बड़ा भक्त है जन्म जन्म का भक्त है गर्ग रखता का नहीं हैं मृत्यु से नहीं तो सारे तो से बचना तो ये जो आपके और हमारे बीच में जो पर्दा आ गया है इस पर्दे से डरता है आत्मलोका वर्णस्य मोक्षम हमारे आत्मा और आपके बीच में एक आवरण आ गया है एक पर्दा पड़ गया है हम चाहते हैं कि ये मौत नहीं क्या आप हमारे सामने हो तो हजार बार मौत आवे हजार बार क्या आप भक्त की मृत्यु से नहीं करता हो मैं तो भक्त नहीं होगा है ना मृत्यु की भी याद रहे और भगवान की भी याद रहे हाँ, एक साथ एक अंतर करो में दो दो प्यार कैसे रह सकते हैं जो ज्ञान ज्ञानानुपत्र मन को धंधा एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते और बोले कि प्रभु हम मृत्यु से नहीं डरते हैं लेकिन हमारे और आपके बीच में जो पर्दा है जिससे हमको बहुत डर है आप इस पर्दे को हटा दीजिए आप है उद्धव जी हैं उद्धव्य है जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासु वो कहते हैं कि आपके सिवाय इस ज्ञान का उपदेश और मैं कर सकता तो प्रभु और हर साथी है ध्रुव लेकिन उनकी अर्थवासना ऐसी निरस्त होती है अपनी स्तुति में वो कहते हैं कि प्रभु हमसे बड़ी भूल हुई अभी ध्रुव लोक में रहते हैं ध्रुव ध्रुव जी और नारायण भी कभी कभी हो जाते हैं तो जब नारद जी जाते हैं तो देखते हैं ध्रुव जी बैठे हैं और उनकी आंखों से घर घर आंसू गिर रहे हैं शरीर में रोमांच हो रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैंने आपके सामने जो ऐश्वर्य स्थिर स्थान और राज्य की वार्थना आपके सामने रख दी वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती थी उस गलती के कारण हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं आप जल्दी हमको इस ध्रुव पद से मुक्त कर दीजिए ऐसी प्रार्थना करते रहते हो कोई धन के लिए भी भगवान के चरणों में जाए तो अंत में धन की वासना नहीं रहती है भगवान की वासना रहती है ज्ञान जो ज्ञानी सनत तो, कुमार है नारद है शिव है हमको ज्ञान है उनको प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का बोध है सबसे भक्त कैसे चतुर्विधा नाम जना सुकृति हो गुण ज्ञानी च माम भजते ज्ञानी होने पर ही मेरा भजन करता है अभिज्ञानी होने पर भजन इसकी भी बात मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि जैसे ज्ञानी होने पर प्रयत्न से राग का अभाव नहीं करना पड़ता स्वतः हो जाता है अद्वेश कृत्वादिवत्तेषा स्वभावो भजनम ज्ञानी पुरुषों का स्वभाव जैसे वो किसी से रागत द्वेष नहीं करते हैं